करेंगे क्या हम ऐसे ईश्वर को इसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा इस मंत्र में अथवा नहीं हाँ जी आप बोलेंगे जैसा मंत्र में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के कर्म का स्वरूप बतलाया क्या ऐसा मन में जचता है कुछ या नहीं जचता परीक्षण है हाँ जी रणबीर शाब्दिक स्तर पर बात है व्यवहारिक स्तर पर व्यवहार में उसका एक प्रतिशत दो प्रतिशत उसको आता होगा या वो भी नहीं आता हाँ जी आप व्यवहार में है थोड़ा सा शाब्दिक में नहीं शाब्दिक में है व्यवहार में नहीं अच्छा आप बोलो अपने शाब्दिक रूप में है जी हाँ जी जी बहुत न्यून है व्यवहार में बहुत न्यून है व्यवहार में बहुत न्यून है हाँ जी बोलिए व्यवहार में कुछ कुछ है कुछ कुछ आप बोलो व्यवहार में पच्चीस से तीस प्रतिशत है शाब्दिक रूप में पूर्ण अच्छा पच्चीस प्रतिशत लगभग आपका बोलो व्यवहार में कितना क्या कुछ है पता नहीं हाँ जी कितना अच्छा जी कितना लगभग एक दो एक दो ना आपका व्यवहार में सात प्रतिशत और शादी और अभ्यास में तो नहीं लग रहा यदि आप व्यवहार में इसको आप ये कहना चाहिए लगभग कम से कम सत्तर प्रतिशत अस्सी प्रतिशत पूरा शत प्रतिशत हटा दो करिए आप अस्सी प्रतिशत सत्तर प्रतिशत फिर यदि ऐसा नहीं ले जाएंगे तो परिणाम क्या होगा आपके जीवन में ईश्वर के विषय में अनुभव नहीं होंगे इसका प्रभाव क्या पड़ता है जब हम इसको व्यवहार में लाते हैं तो व्यक्ति का जीवन जो सांसारिक स्तर पर रहता है प्रमाणों से सिद्ध हो जाता प्रयास करने से और प्रमाणों से सिद्ध हो जाने पर वो व्यवहार में प्राय नहीं आता आंशिक रूप में आता है करती ऐसा ही रहने दो जैसा है अब क्या ठीक है जो कुछ है एक स्थिति है नहीं यदि ये सत्य है तो मैं क्यों नहीं मानूंगा क्या कारण है मैं नहीं मानूंगा ये अठता अभिमान दुराग्रह स्वार्थ की स्वार्थ की प्रवृत्ति है मेरी इसलिए मैं नहीं मानता हूं अपने आपसे कहता हूं वो स्थिति बना रहने दो तो जैसा है साथ रहेगा जाता रहेगा ध्यान नहीं ये कोई अच्छे व्यक्ति का काम नहीं ये सत्य की घोषणा करने वाला व्यक्ति नहीं ये सत्य ग्रहाई व्यक्ति नहीं व्यक्ति को तो निर्णय ही करना पड़ेगा इस विषय में यदि ये सत्य ही है तो बुद्धि क्यों नहीं मानेगी कैसे नहीं मानेगी फिर वो देखता है बुद्धि नाम की चीज या ज्ञान नाम की चीज वो मैं ही तो हूं बुद्धि को स्वतंत्र ज्ञाता तो है नहीं ज्ञान को फेरने वाला न मानने वाला मानने वाला मैं ही तो हूँ अपने पर कहता तू ही तो हुआ इसको मानने न मानने वाला अब बुद्धि को दोष दे के बच जाए कोई ऐसा नहीं होता Mm. भिन्न प्रकार का नहीं इसमें क्या नहीं है हैं? हाँ? आप बोलो अपना अच्छा पचास आप बोलो निर्णय नहीं पूरा निर्णय नहीं शंका है बाकी सब में अच्छी तरह बोलो थोड़ा सा ऊंचा इसमें कैसे करता है इसमें शंका हूं कैसे करता है ये विधि तो नहीं समझ में आती फिर करता ही है ये तो समझ में आता है या नहीं कैसे करता है ये तो समझ में नहीं आया सामर्थ्य कैसे हो सकता है उसमें तो इतनी बड़ी सृष्टि संभाल ले ये बात नहीं बैठती दिमाग में शायद ऐसा कहना चाहते हैं हाँ ये कहना चाहते हैं तो ईश्वर अनंत है सृष्टि के बाहर भी अंदर है ना इत, अब इतने बड़े ईश्वर में इतना बल क्यों नहीं होगा जो सृष्टि को बनाए और चलाए और बिगाड़े अनंत अनंत ईश्वर है समाधान हम करते हैं ना ईश्वर अनंत है देखो सत्वर तम प्रकृति जहाँ है वहाँ ईश्वर है जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ ईश्वर है जीवात्माएं जहाँ पर हैं वहाँ ईश्वर है जहाँ जीवात्माएं नहीं है वहाँ पर ईश्वर है जहाँ अरबों खरबों लोक लोकांतर हैं वहाँ ईश्वर है जाए नहीं है कुछ भी वहाँ भी ईश्वर है और आप पढ़ते क्या है पादो हम्म? अश्य विश्वाभूतानी त्रिपाद अश्य अमृतम देवी एक भाग में सारा संसार है और तीन चार भाग नहीं तीन भाग खाली पड़े हैं इतना बड़ा अभी अभी समाचार पत्रों में निकला था ना कुछ दिन पहले ये हमारा सूर्य है इसका ग्रह पृथ्वी है और उपग्रह है चंद्रमा है वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार एक दूसरा सूर्य है उस दूसरे सूर्य का एक ग्रह है दूसरे सूर्य का और वो उन्होंने जाना है ऐसा आया वो ग्रह जाना है इस सूर्य का नहीं है और वो इतनी दूरी पर माना गया जहां तक मुझे याद है वहां से यदि प्रकाश चले तो डेढ़ सौ वर्ष में प्रकाश यहां पहुंचेगा इतनी दूरी पर है क्या समझे आप एक सेकंड में प्रकाश की गति कितनी है, है? है किसी को याद पक्की या लगभग है लगभग तीन लाख एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर प्रकाश चलेगा और एक मिनट में साठ सेकंड को तिगुना बना के करो तीन साठ बना लो एक सौ अस्सी लाख और वो तो एक मिनट का है एक घंटे का बनाओ फिर दो घंटे पूरे दिन का बनाओ फिर एक मास का महीने का बनाओ और फिर वर्ष का बनाओ और डेढ़ सौ वर्ष बना लो कठिन डेढ़ सौ वर्ष तक प्रकाश चलेगा इतनी दूरी पर वो ग्रह अब बताइए क्या करो इतनी दूरी और ये पूरा संसार वेद की भाषा में ये पूरा संसार जो इतना बड़ा है वो परमात्मा के चार भाग बना लो कल्पना से एक दो तीन एक में है तीन भाग ईश्वर के खाली पड़े इतना बड़ा परमात्मा इसलिए इतना बड़ा परमात्मा है उसका बल अनंत है ज्ञान भी अनंत है और आनंद भी अनंत है हमारी दृष्टि में क्रिया भी अनंत है कितनी चीजें हो गई नहीं याद रही क्या हुई बल अनंत क्रिया ये ईश्वर का ऐश्वर्य है ये बात आपके मन में जच भी जाए कि ईश्वर इतना बलवान शक्तिशाली होगा एक और बात देखेंगे वो सारी सृष्टि को बनाना इसको चलाना इसका प्रलय करना सब जीवों के कर्मों के फल देना बिना हिले जुले करता है ये और आश्चर्य हो जाएगा आपको <laughs> क्यों नहीं होगा या नहीं होगा बिना हिले डुले करता है सृष्टि को बनाता है बिना हिले डुले और सृष्टि का पालन करता है बिना हिले डुले सृष्टि को का प्रलय करता है बिना हिले डुले और अनंत क्रिया करता है हमारी से बिना हिले डुले अब बताओ क्या करोगे दूसरी बात इसमें यह दिखती है यदि ऐसा ईश्वर नहीं है थोड़ी देर का हटा के चलो हटा के चलो तो सृष्टि बनी बनाई मानो या तो सदा से जो तो बनी और अनंत काल तक बनी बनाई रहेगी आप बताओ ये ठीक है या नहीं है बोलो आपको क्या जस्ती है ईश्वर नहीं है हटा दो इसको हटाओ ईश्वर नहीं है नहीं बनाता तो ये बनी बनाई है क्या सृष्टि तो बनी बनाई क्यों नहीं है हाँ जी बोलो जानपूर्वक रचना नहीं हो सकती हाँ जी बोलो बनी बनाई क्यों नहीं है हाँ जी बोलो विशाल जी व्यवस्थित ज्ञान पूर्वक की रचना हाँ। चेतन के बिना अपने आप जड़ों में नहीं होती अच्छा नहीं होती रचना बिना ज्ञाता की तो ये रचना कितनी है हमारी दृष्टि में तो आ नहीं सकती अनंत है या नहीं इतना पता चल गया कि बिना बुद्धि के बिना ज्ञान के रचना बुद्धिपूर्वक हो नहीं सकती और वो ज्ञान कितना होना चाहिए इसके ऊपर विचार करो फिर से सुनो आपने ये मान लिया ईश्वर की एक बात सुनी थी ना ये अपने आप रचना नहीं हो सकती इसका तो हो गया ये बनी बनाई मान ले तो क्या बात है बनाई नहीं गई अनादिकाल से हाँ जी बोलो बनी बनाई है बनी बनाई रहेगी ऐसी की रहेगी ऐसी रह नहीं सकती बनी बनाई हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें परिवर्तन है हम्म। और जिसमें परिवर्तन होता है जो बनी बनाई चीज होती है स्वयं वो होती है उसमें कभी परिवर्तन देखने में नहीं आता जैसे जैसे आत्मतत्व है हम्म। उसके विषय में प्रमाण भी मिलते हैं नहीं हम्म। तो जब उसी अंश को लेते हैं हम ये सृष्टि बुद्धिपूर्वक बनाई गई है तो बुद्धिपूर्वक बनाई गई है तो बुद्धिपूर्वक बनाने में ज्ञान भी समानंद चाहिए फिर नहीं तो ये बन नहीं सकती क्या समझ में ज्ञान भी तो अनंत से ये सृष्टि की रचना में ठीक है और जब ज्ञान अनंत होगा तो बल भी अनंत से ये सृष्टि ये नहीं बन सकते और अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत क्रिया ईश्वर में इसलिए मानी गई कि वो अनंत है ईश्वर अनंत है अनंत है तो अनंत उसमें ज्ञान है अनंत उसमें बल है अनंत उसमें क्रिया है तो ये जब अनंत है ज्ञान भी अनंत है तो रचना करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए हाँ जी बोलो शंका हो तो हुँ? हम्म? हाँ जी साधक जी तो पहला दूसरा रह गया <laughs> ये सुन दिया साधक जी ने क्या कहा बताओ आदित्य जी शान से सुनो फिर बैठे रहो उंगते रहो हाँ बोलो साधक जी ने क्या कहा नहीं पता जो पहला हमारा प्रसन्न चल रहा था वह अधूरा रह गया कौन सा पूर्व जो चला था हम्म? इसके पूर्व वो चला था या क्या अपने आप बनी बनाई बनी बनाई बांधने का है कौन सा साधक जी ये तो इस निकट वाला है ना बनी बनाई मानने वाला उसका तो आ गया ये जो बनाई गई है उसका तो आ गया हाँ पर ये बनी बना ये इसका अनादि अनादि है क्योंकि तो इस मत को मानने वाले भी बड़े अच्छे विद्वान बड़े जाने माने बड़े पढ़े लिखे अपने ग्रंथों के सब प्रकार से पढ़ने पढ़ाने वाले स्वीकार करते हैं कि ये सृष्टि अनादिकाल से बनी बनाई है और अनंत काल तक बनी रहेगी ऐसा एक तो जैन मत के विद्वान मानते हैं अच्छा आप बताओ बनी बनाई मानने में क्या दोष है कौन बताएगा बोलो जिसको समझ आती हो नहीं आती समझ समझ में आते हैं हाँ जी रणवीर जी बनी बनाई नहीं है इसको सिद्ध करो पंचावन से सृष्टि बनी बनाई नहीं है ये हुई प्रतिज्ञा कार्य पदार्थों के समान लक्षण देखे जाने से सृष्टि में हम्म। हाँ बोलो आगे जिस जिस पदार्थ में कार्य पदार्थों के समान लक्षण देखे जाते हैं वह वह पदार्थ बनी हुई बना हुआ होता है हम्म। जैसे घट आदि हम्म। तो जैसे घट है वैसे ही सृष्टि है हम्म। इसलिए सृष्टि बनाई गई है चेतन के द्वारा आप को इनकी बात सुनने से कोई संतोष तो नहीं हुआ होगा नहीं हुआ ना क्या हो गया अरे अच्छा, संतोष ही नहीं हुआ तो समझाना किस काम का व्यवहार में विद्या जब दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकती तो वो वो विद्या अधूरी हुई उसमें अभी कमी है वो सफल नहीं है व्यक्ति सम, समझाने वाला ठीक है उसको सीखना पड़ता है आप यदि ऐसे नहीं सीखेंगे नहीं समझेंगे तो दूसरे को नहीं समझा सकते आप ये सृष्टि बनी बनाई नहीं है ये क्या है क्योंकि ये तोड़ने से टूट जाती है क्या है क्या समझे आप से टूट माता जी समझ में आ रहा थोड़ा बहुत है ये तो थोड़ा सा कठिन पड़ता होगा ये सृष्टि सदा से अनादिकाल से बनी बनाई नहीं है क्योंकि ये तोड़ने से टूट जाती है ढेला लो मारो कूटो पत्थर को कुछ भी ले लो टूट जाता है जो जो चीजें टूट जाती हैं वे बनी बनाई नहीं होती जो जो चीजें तोड़ने से टूट जाती हैं वो बनी बनाई नहीं होती ये घास तोड़ने से टूट जाता है ये बना बनाया नहीं आगे बढ़ जाओ पृथ्वी के ढेले हैं आगे बढ़ जाओ ये हमारा शरीर है ये तोड़ने से टूट जाता है समाप्त कोई भी चीज ले लो तोड़ने से वो टूट जाती है जो भी तोड़ने से टूट जाती है हम ऐसा दृष्टांत लेंगे जो पृथ्वी से हटकर के भी हो सकता है शरीर को ले लो आप ये शरीर तोड़ने से टूट जाता है जो जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है वह अनादि नहीं होती कहा से चले हम सृष्टि बनी बनाई नहीं है क्योंकि ये तोड़ने से टूट जाती है जो जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है वह बनी बनाई नहीं होती जैसे अपना खम्बा ये खम्बे की बाती ये पृथ्वी भी तोड़ने से टूट जाती है कहां तक पहुंचे हम कहीं ठीक हो गया या नहीं हुआ फिर चले ये सृष्टि बनी बनाई नहीं है हेतु क्योंकि तोड़ने से टूट जाती है व्याप्ति जो जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है वह बनी बनाई नहीं होती जैसे खम्बा और भवन खम्बे की बात ये पृथ्वी भी टूट जाती है तोड़ने से टूट जाने से ये पृथ्वी बनी बनाई नहीं है अब देखो साधक जी है जैसे ये बनी बनाई को खंडित करता है हुए ऐसे अनंत काल तक बनी रहेगी इसको भी ये खंडित करेगा क्या समझ में आया क्या समझ में आया बोलो जैसे ये पंच हुए अनादि होने का खंडन करते हैं ऐसे अनंत होने का भी पंच अवय खंडन कर देंगे या नहीं करेंगे है इसको ऐसे खंडित किया हमने एक व्यक्ति आके कहने लगा ये सारी चीजें आती हैं आने के पश्चात सारी नष्ट हो जाती हैं रहती कोई नहीं और बनने से पहले थी ही नहीं और आगे ये रहती ही नहीं ये तो है भाव से भाव उत्पन्न हुआ है और है कुछ नहीं अब साधक जी बोलो नियाज माता जी गहरा गहरी बातें चल पड़ी है और एक बात और है गहरी बातों को बार बार सुनो बार बार सुनो वो समझ में आने लग जाती है ये नियम है चाहे थोड़ा पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो बार बार सुनता है बार बार सुनता है तो वो समझ माने लग जाता एक व्यक्ति ने माना कहा ये सृष्टि तो अभाव से उत्पन्न हुई है पहले इसका अभाव था सृष्टि का कोई भी चीज नहीं थी बनी है सब और आगे अभाव हो जाएगा जब भाव अभाव से भाव रूप माए फिर अभाव हो जाएगा तो ये तो अभाव से ही सृष्टि बन गई है और ना कोई परमाणु है ना कोई सत्वर तम है न ईश्वर की आवश्यकता है इसने ये कहा तो आप क्या बोलेंगे रणवीर जी अभाव से उत्पन्न होने वाले का खंडन कैसे करेंगे इसका यह हेतु दे सकते स्वामी जी की बिना उपादान के कोई भी कार्य नहीं देखा जाता हम्म। प्रत्यक्ष में हम्म। तो इसी प्रकार से सृष्टि भी बिना उपादान कारण के नहीं बन सकती हाँ जी ठीक है साधक जी ठीक है क्या कहा कारण के कोई भी वस्तु नहीं इसको यह खंडित करेगा कि यदि आटा न हो तो माता जी रोटी बना देंगे क्या बना दोगे आप रोटी अब बताओ अब मिट्टी ना हो तो कुमार घड़ा बना देगा क्या बन नहीं सकता तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बात सिद्ध है कि कोई कारण होगा तो कार्य होगा नहीं तो हो नहीं सकता मोटी बुद्धि वाला भी जानता मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता और आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती तो ये कहना जो है आटे के बिना रोटी बन जाती अपने गुरुओं को अपने सन्यासी साधुओं को अपने सिद्ध पुरुषों को जो इनको वो सिद्ध मानते वो कहते हैं हमारे पुरुषों ने मैं इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य अद्भुत योग्यता थी कभी एक पाव आटा लिया और एक पाव आटे से रोटी बनाते गए खाते गए बनाते गए खाते गए सैकड़ों हजार लोग खा गए और फिर भी आटा रहेगा पाव का पाव रह गया आटा हो सकता माता जी ऐसा बाइबल का याद है कुछ वो निकाल के दिखा देना अच्छा रहेगा ना भाई बाइबल का दृष्टान्त है, डोंगर पे गए हाँ पर उनके पास पांच यहाँ बाइबल तो है ना अपने पुस्तकालय में है उसको निकाल के देना भाई सीर समय पर काम नहीं आए तो उसका बनेगा क्या वो तो बाइबल वाले बात करेंगे जब वही दिखा देंगे तुम्हारे बाइबल में ये लिखा है हमारा क्या है बताओ ये ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं हम प्रश्न उत्तरों में नहीं पढ़ना चाहते हम वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते रही इन्होंने वो है ना योग विधि और सिद्धि पुस्तक लिखिए एक एक प्रश्न उठा उठा के एक एक बात उठाइए और के धज्जी उड़ा रहा है वो ईश्वर की सर्वव्यापकता की एक एक प्रश्न उठाता रहे अब कितना छल कपट है कहते हम वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हम प्रश्न उत्तर में नहीं पढ़ेंगे हम सीधा ही अनुभव की बात करते हैं तब अमीन को कहेंगे तुम्हारी सिद्धि योग सिद्धि नामक विधि पुस्तक में ये लिखा है प्रश्न उत्तर ब्रह्मा कुमारी उत्तर देती है प्रश्न दूसरा उठा रहा है वहां वाद विवाद क्यों करते हो आप वहां प्रश्न उत्तर क्यों करते तभी इनका दिमाग ठिकाना है आप बात बनाते हो पुस्तकों की क्या विद्या है कुछ नहीं अनुभव की है अच्छा आपने पुस्तक क्यों लिखी बताओ क्यों लिखी इस प्रश्न उत्तर के द्वारा क्यों खंडन किया सर्वव्यापक ईश्वर का दूसरे मत वालों का खंडन क्यों किया आबाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहते ये छल कपट है इतने चालाकी कहते हम झगड़ा नहीं करना चाहते और नीच पीछे से छुरा मारते <laughs> अब बताओ इनकी चादा की छल कपट कितना है बात सुनाएंगे तो, तो आगे बहुत आगे दुनिया बदल जाएगी तो बात तो हाँ वो तो कहते ही है इतने में परल होगी वो कहते है ना तुम्हारा कितना काल बचा है अपने उपाध्याय विवेक जी ने पूछा तुम्हारा काल बताओ कौन सी तिथि से आरंभ हुई थी सृष्टि और कब ये कहते ये तो नहीं कह सकते कौन सी फिर फिर निर्णय कैसे किया इतने काल में प्रलय हो जाएगा बताओ तो तो हम ये जो विवेचन कर रहे थे ये उपासना में भी प्रयोग में आता है ये जो कर रहे हैं हम उपासना करने वाले व्यक्ति के दिमाग में ईश्वर के विषय में जो संशय होते हैं उनका समाधान ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है ये उसका लक्षण एक कर्म है जब ये प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर सृष्टि न बनाए तो बुद्धि पूर्वक लक्ष्य उद्देश्य पूर्वक ये रचना हो ही नहीं सकती इसलिए ईश्वर है इसका बनाने वाला फिर कहा कि ये सृष्टि बनी बनाई मानते हैं बनी बनाई मानते हैं तो ये बनी बनाई सृष्टि हो नहीं सकती ये पंचवैशिक खंडन हो गया फिर कहते अभाव से भाव की उत्पत्ति मानो तो अभाव से अभाव से कोई चीज भाव रूप में आ नहीं सकती किसी की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है ये भी खंडित है फिर कहने लगे जीव बना देंगे जीव आत्मा तो सृष्टि बन जाती है खाने पीने की चीज तैयार हो जाती है जब जीव का शरीर बनता है तब कोई काम करने में जीव आत्मा समर्थ होता है जीव कैसे बना देंगे सारे मिलकर के जीव नहीं बना सकते एक जीव की बात नहीं प्रकृति जड़ होने से नहीं बना सकती और जीवात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर भी सृष्टि को नहीं बना सकते ये मुख्य मुख्य पक्ष आए या नहीं आए और आगे छेड़ेंगे तो दूसरी बातें आएंगी ये जो मनुष्य जन्म पशु गधा घोड़ा अलग अलग योनिया इनमें ऊंचा नीचा सुख दुख ये ये व्यवस्थाएं भी ईश्वर के बिना नहीं हो सकती मनुष्य नहीं कर सकता तो इससे क्या सिद्ध हुआ ईश्वर है ये सारे पक्ष तो खंडित और ईश्वर है और ये रचना ईश्वर ने ही की है और ईश्वर इसका पालन रखा करता है ईश्वर इसका पर्दा करता है ईश्वर कर्मों का फल देता है व्यक्ति <clears throat> के मन में ये बात आती है अब वो ईश्वर को मान के ठीक ठीक स्वीकार करके अब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना निश्चिंत होके करता कभी संशय उठता है तो उसका फिर समाधान कर देता जब कभी संशय उठता है तो उसका फिर समाधान कर देता ईश्वर है ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है अब आपकी दूसरी बात फिर देख लेना है का तो पता चल गया या नहीं अब मेरा अब हम मोटे रूप में ईश्वर भक्ति का प्रयोग करेंगे एक प्रसंग है दर्शनों में सत्यार्थ प्रकाश में कि ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र समाधि होती है जल्दी से जल्दी होती है कवि की भावना को लेके हम बोलेंगे कभी कभी व्यक्ति सोचता है मेरा कोई सहायक दिखाई नहीं देता ऐसा सोचता है लौकिक दृष्टि से सोचना एक आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना दो लौकिक दृष्टि से उसको साधन उपकरण नहीं मिला आदि आदि वो लौकिक दृष्टि और प्रयत्न करने पर समाधि नहीं लग पा रही है कोई व्यक्ति लौकिक इसको सहायता देने वाला नहीं मिल रहा है वहां आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति सोचता है कोई सहायता देने वाला नहीं मिल रहा तो फिर वो क्या देखता है ईश्वर से सहायता मांगो तो कवि की भावना है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा यहाँ रखिए जिंदगी को मैं खोता रहायूं गफलत में मैं सोता रहायूं जिंदगी को मैं खोता गफलत में मैं सोता रहायूं कितनी गुजरी है दे पे कितनी गुजरी है दिन और रातें नींद आंखों से धोई नहीं है और किसे का मैं पकड़ू सारा और किसे का मैं पकड़ जहां का अब मैं यहां का रहने वहां का ठुकर हूँ सारे जहां का अब मैं यहां का रहने वहां का अब तो जिन जिंदगी है तेरे हवाले अब तो जिंदगी है तेरे हवाले तेरे दर का भिखारी यही है और किसे का मैं पकड़ू सहारा किसे काम पकड़ सहारा तुझ सादानी नहीं है जहाँ में मांगने को फिर जाऊं कहाँ तुझ सादानी नहीं है जहाँ नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भरे आया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा दुनिया की ठोकर खा कर जब कभी हुआ बेसहारा पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा ये नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया नाथ मेरे से तू है अमृत बरसाया तेरे नाम का सुमरन करके मेरे मन में सुख भर मैंने पाया तू संग में तू संग में था सुनो सुनो आत्मदेव जी बोलेंगे तू संग में था नित मेरे ये أنت لا पग में उठाया मैं इतनी बार गिरा हूँ तूने पग पग में उठाया तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया भव मेरी नैया तट छूना भी मुश्किल था नहीं दिए कोई खिवैया तट छूना भी मुश्किल था नहीं देखा कोई खिवैया तू लहर बना सा सागर की मेरी नाव के नारे लाया तू लहर बना सागर की मेरी नाव के नारे लाया तेरा नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आ